अल्लाह ईमान वालों का रखवाला है वो उन्हें अंधेरियों से निकालकर रोशनी में लाता है और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके रखवाले वो शैतान हैं जो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरियों में ले जाते हैं वो सब आग के बासी हैं वो हमेशा उसी में रहेंगे